खुशतबई के साथ एक दूसरे से जाम शराब की छीना झपटी करेंगे जिस शराब के सुरूर में तो बेहुदा गोई होगी न गुनाह